तो अब काय करियो के मालन झाटी लेन आवे अरे झाटी लेन आवे उन टाइम क्यों रे अपन पापा अपन काट दियो हा टांगड़ी अपन तोड़ दिए एना पे दौड़ा तो अपन दौड़ी जे नहीं रे के अब आ काट दे अपन एना भी रे के आप पापा अपन काट दे अरे तो बात चार पांच पाउंड आ गिरी उन टाइम आप जेम कोई हीरो अरे छेका हमन बा काट दो तीन टका दिया बिने मलन जरा बा राजी आएगी हम्म. राजी आई उन टाइम क्यों रे के के भाई अपन धन दो लोग लोग अपन दो यहां तीजो एक वो है तो कोई बात नहीं के थोड़े और भाई दो तो माँ हाँ, हाँ तीजो थो और तीजो थुए अपन खाण पीण कोई कमी है नहीं अरे बाग है अपन कने है हाँ। और काई चाहिए हां फल फल गड़ा भाई हां हाँ। तो अब बाप रे बिन रोटी रोटी ले जान खाड़े नहीं गेहूं दूध उन मतलब अरे बिन घर में कौन खाना अरे तो अब दूध उन वो दूध नहीं बहुत पाँच हमको हां पाँच तैयार है बात की भी कि भाई मैं पनीर जड़ और आधा रात फलाने फलाने बात है हमारे में એ ના તો ગોગરીયો રાણ નો પાદલાન તમારો આ હા ને કે ઠીક તો બા આપણે કાઈ કર્યો ચાર ઉમિસ લે અરે એ બિલામ લેન મતલબ મીરાવળન કે આ હા રાવળન ગઈ હું ત્યાં મે કાઈ કર્યો કેવા છાને ગિવે કે બા વાતમ કે ભાઈ આ બાયરો અગમણ તો દુજા કે ઘરનો પડી ને કીટમે તો દેવે નઈ અરે એના બ હવા કાઢજો વાત हम्म। तो वह का गिर के एक दूजी बह नहीं एक भाई भी दो जना हवा काट अरे तो क्यों भाई कोई बात नहीं फलाना फलान पिसु बरात आ गया हम्म। मतलब आ तो हवा मेल दिया हाँ। पिसु बरात जाए हाँ। तो अब का गिर के आई बात हाँ। क्या कियो भाई पिसु बरात हवे लगे अरे तने पने ही नहीं अच्छा वो हमजा देर मिले सा जगह ने पांच बनाए गया पिसु हम्म। क्यों कोई बात नहीं बात दिन उगन पिसु आयो पांचो अरे तो अब वो कह गिरा अब ना ना पड़ा करे नहीं जाना ही तो वे डेरा रा दिला दे है बा अब कह करियो के वे चौरिया बैठा ने हां पनीर दिन टाइम हां उन टाइम में कह गिरियो के वे वो दूध पनीर दिन आलो पनीर दिन आलो हां उन रायो हां अरे दोनों मल्द मतलब गल जोड़ो गाजोड़ो अरे गल जोड़ो गाजोड़ो उन टाइम का ये मुंदरो आयो हां मुंदरो आयो उन टाइम में कह करियो के वो अरे बेंद होने हां क्यों माचो हड़ू काट काट जावे कितने हाँ उन टाइम ठोकी एक आप रे तलवारी हाँ, डाल खंडो खंडे ठोकी तो उन दिन मार उन दिन मार के अटके पद्म सिंह दे के डको गड़े गड़े मिश्रिया करे मार हाँ उन दिन के हाँ। तो वह लड़की की और थारी मादर हाँ पद्म सिंह की बात अट लाई दिन ने मानो राजी होई गए वो तो सुन भी रो के हां के बोहरा पार लता के सो राजा जकन तो आप रे बात आई करे जब के आप रे गलजड़ सोडावरो अरे एन आप मेला में जान 2400 वजन बिना अरे ए थाल कुछ ना आप रे मेला में हम्म। अब वह प्रवीण काकड़ में ध्यान करा कि पद्म सिंह कटे दिए तो हम्म। भोजन ले आना वहाँ वर्षा हम्म। वही करता करता कहीं गिरी मिन माली बैर मात अरे तो वो कहीं गिरी आप रहो दिन माते बैठो है एंड मस्ती नान करा थाट बार वाह क्यों पद्म सिंह है ना तो वही है नहीं तो नहीं वर्षा आपने बद बढ़िया आपने थाड़ ले अरे ए चो तो श्रृंगार करूँ ना आप भी रहेगी अरे गिरी जड़न बोलसाली क्यों बोल तुम तो मन मरा देगा अडलान हाँ। तो वह आप की कर कुरान वाह माफी मांगी वाह क्या तुम्हारी गलती हैगी है नहीं हैगी है ना बेस अरे थाना मारो सुन मत पाचो आप हाँ। दो अरे वाह साउंड टाइम गई हो क्या आप राजना राजनामा करियो क्यों कोई बात नहीं अब नक्की अपन धर्म नहीं गमाओ अरे वो लड़को की हो गया अपन धर्म अपन नहीं गमाओ हाँ, हाँ अपन नाम धर्म नहीं गमाना हां तो गिरी हो के वाह बात हाँ राजनामा करियो है हाँ अबे क्यों के भाई अबे आपने घर हाल में हां क्यों हां हम्म। तो आप रे शस्त्र पात ले अरे इन पास आप घर गया है हां एंड राजभाट करियो इन बे आया बोलो अच्छा हां अरे तो आ बात तो एक तो पूरी है अरे तो कई करियो के हाँ, तो दो अरे हां दो जी हां अटे बैठ रहा दो सेठ आ जाना कई करियो के वे सेठ आपने दो ही अरे गणेश जन के भाई आप ಭಯ बन जाओ ಬೆಳೆದವ जन ಜನಕ್ಕೆ कोई बात नहीं बन जाओ अरे तो वे व्याकाई करियो के आगे आगोनी बात करी फूट हाँ। करी के भाई आगे पण या के फलाना फलाना है टाणे हाँ। तो अभी करता करता कई करियो थाट बाट में आगमन करिया है अरे अभी करता करता कई करियो तुम्हें लड़के रो वाह लड़को हाथ आठ बरसाना ना यो हाँ। तो मान बात तो ही मतलब गुदरिया उन टाइम में काय किरियो के लड़की रो बाप कियो के थारी मादर जलम कर दिया आहा अब अपन अटे लड़की नहीं देनी अरे वैसे बैठे सेटन तो ही बात है हां के भाई अपन लड़की ने तो देनी नहीं आहा के कोई बात नहीं अरे वहाँ भी यूँ करता करता कई क्रिया है समझ हो गए क्यों भाई अब लड़के अपन मोटा रह गई है वह है ना बहाओ दूजा का अपन अभी करने तो आप रहे अटे अटे फिर खुरा हाँ ग्रो बढ़िया ठिकाना देख हाँ और भाई रह गई करी हाँ बढ़िया हाँ। रिजल्ट देख हाँ अरे तो अब आप रखाई करियो है के आगे करिए हाँ हवा काट दिया है अरे एन अब हवा खाई लड़के बंदोड़ा खावे हाँ। बंदोड़ा खावता खावता काई करियो के बंदोड़ा खावते फिर उन टाइम वो लड़कों लड़को काई करियो आप रे बिन शहर में ये दुकान गाली पान रे और पान बिना दे बीर बिन मजूरी को अरे छोटे पर अरे यूं करता करता काई करियो के एक अब छलो बंदोड़ो रियो क्या मतलब एक अरे एक बंदोड़ो ही है अरे तो अब का करियो के हाथ आए ना ये लड़के ये साथ में अरे तो भी लड़की लड़के क्या हो गया शादी है तो मन पान नहीं खड़े पान तो आज खाने पर तो कि भाई कोई बात नहीं खाई लो वाह तो आप रब का रियो के वो वाह पान में आए क्या भाई दो चार पान दे दे के बादशाह दे दे पान पान बिना दिया अरे अभी आप रबा का करियो के पान बिना दिया खाया वाह लड़, लड़की की ओर भाई तारा कितना पैर है आह क्या भाई हमारा पैर तो क्या चार ही पैर अरे तोला है तार चार ही पैर अरे क्या ठीक अब वह लड़की पाँच छः पाउंड आगे की भी कि वो लड़को जोर हिस्कार होना है हिस्कार होना है कि उन टाइम वहाँ लड़की हुई अरे क्या थारी माँ जरूर थारी हम्म। वो हिस्कार क्यों ना क्यों हम्म। पाँच लड़की मतलब थाट बाट के बाप ने रुपया कमा गया हाँ क्यों भाई तुम हिस्कार कहना क्यों भाई तार रुपया कमाया अरे કે નહીં હું મહારાજ પછી પૂરા આવી ગયા ભાઈ હા મેં તો गिरમાણી મોસમ મેં जाता કોઈ હા क्यों नहीं तेरे सौ गुना में आप इनकारी मजबूत बताए अरे इस कारण है क्यों क्यों नहीं अब ये करता करता भी लड़की रहे मेरी लड़के रहेगी जो जोड़ है इनके हर एक डोकरी साढ़े पैंतालीस एक बारी डोकरी बैठी अरे मतलब बिना रहते रहते ठा हाँ बाकी बाला इन्हें कहीं पूछे लड़की मैंने बोला ओ मेहनत मैं बता दूँ क्यों बता दे जना जो कही अरे क्यों तो मैं आवार बताऊँ क्यों बता हम्म। के एकाए के थे हाथ मतलब छोट छोटा हम्म। उन टाइम में एकाई की किरियो के थाना हकमण या अरे हकमण या ना मान पूरे गांव गुड़ बांटियो बांटी जियो गए मीठो मुंडो मार के हां था पेट में पैदा पड़िया उन दिन हां अरे तो क्यों उन दिन हकमण के आ रेड़ा आ थारो छोटन तो दूजा का बनी जाए इन छोड़ हाँ, इरा मां बाप बड़गा गुदरगा हां तो आ थारा मां बाप जिए तो दूजा थारा हो दे दियो अरे हाँ। तो बा लड़के का ही करियो क्यों थारी मार जानो हाँ बा फिर पिस्ताव करियो फिर पिस्ताव करियो हम्म। अब आप घरे की अरे घरे जान वाले शान वे अरे क्या अरे यो भाई थारे हाँ वही बात क्या नहीं मारे तो क्यों नहीं दियो अरे अरे यो भाई आज बारात आई नम जमरिया में बहो करनी हाँ क्या नहीं मैं तो कोई आज मैं कोई का अरे तो बाप लाटे लड़के आई हाँ। जगन कह दियो के बाप सन कह दियो फलाना फलाना बा बारात आवेला हाँ। बिना आप ये हाथ लड़के आए चौकी के देखना आप ना दे तो मैं नहीं अरे सतखंड देख रहे करावा तो क्यों थारी मार हे ओ भाई हां आप सतखंड रा तो करे रे तो बाबिनी मां आई अरे क्यों रे बेटा थारे यो भाई अरे के मां मैं देख जो मारे आगे शादी करियो है हम्म। उन्हें मैं जो उन वो भूको है हां तेरो है तो ही मैं बिने हाँ। परोट हां के थारी मां दनो आप लड़की तो हट करे अरे जलम कर दिया हां उन दिन मैं थारे उन दिन पड़ी उन दिन से बात करी उन दिनों हां बात रखो अब ये करता करता काई करियो के अब अभी बिना गणे मने हम्म। तो वह लड़के माने नहीं अरे क्यों भाई याद तो नहीं माना और तो कहीं ग्राम है अल्लाह लबांस कटाने नहीं हम्म, हाँ, आओ मैं लोग हाँ। तो भाई आप रात रात भी लड़के रख रहे आओ मैं लिखा कब हाँ। तो अब मैं लियो अल्लाह लबांस कटा चावजा मटाइए अरे तो अभी मैं लड़के रहा तो कोई है नहीं माँ बाप अरे तो भी ना कहीं हाथ आए ना मतलब दोस्त था दोस्त बे आपरे गांव रे बाहर लपाड़ जब जब एक झोपड़ा झोंपड़ो यौन आंगन बोरा यौन तैयार ये एकदम रेडी रेट करियो घर बिना दी के भाई हमारे ने पना लावा ले घुगे आए कटे रे हाँ बल्ले गराने आए हाँ तो अब आप रे वार गियो पने दिन पने पुनून पाचा आगा वाह चमड़िया पना पुनून आगा पाचा अरे अब आप रे आया पाचा न कई गियो के अटे अटे बढ़िया हो आ हाँ ठीक है ठीक हो घर हो आगे हाँ वाशा बैग यार ना अरे अब आप रान बैग तुम टाइम का इधर के भी लड़के ने क्यों अरे तो समाज में काई करियो काल हो एक तो बा लड़की के कि आप बैठा बैठा तो काई खावा नहीं अब ले देशोर जावे अबे यार और अपन हेटा ने देशोर में लो बा नहीं जावे मैं हेटा ने देशोर में ले अच्छा ठीक है तो क्यों और सेटा के के कैसा अरे के थे बैठे बैठे टकाई तो कर अपन धंधो तो है वो नहीं एन हमारे पावले मजदूरी कर लाओ हम्म। एन थे देशोर जाओ अरे क्यों अब वो अंतो तो के हां के अगर इन मुंडा को करो नहीं बना तो आप घर छोड़ दे अपन अल्लाह करा के के आवाज जाओ अरे भाषा जाओ हां अबे सुबह दिन उगो तो पाई के चार लाडू आ बड़े हां दिया बिने अल्लाह के ओलो के आ ए खाओ जिथे आगे थे पहुंच जाओ वाह एन आगे बताना हाँ। कि कर जियो अरे और उठ गाने हां क्यों कोई बात नहीं ठीक है अब वो आ गया आप गियो गियो गियो कांगड़ बारे नहीं जो तो काई नाडो आ आयो वाह મતલબ પાણીનો નાડો આવ્યો હા હા નાડ્યો પાણીઓ ભર્યો અરે તો હવે કાંઈ કર્યો કે કિયર ભાઈ આવો દપાર દિન આગો હે પાણી નાડો આગો પાણી આને પીવા અરે એને દપારી કરલા અરે એને ઘડી બધો તાવડો પડે આરામ કર લેવાનું પછી આગે વાહ હાલ હા તો હવે આપણે પાણી આણી પીયો હે હવે કાંઈ કર્યું છે અમાળવો છે નહીં લાગે એવું કરતા કરતા એક કાંઈ કર્યું બોડી નહીં ગઈ बोल्ड इनिंग आई तो काय करियो कि एक बोरोम भागे रहा तिचो ठेवड घणी आल्ड पाट बोलिया हां अबे बाप बोरोम भागे बाच हां तो वो तो घणी दे केड़ो कोनी बोर क्यों ए कई है लाल लाल देखा हां हां है कई है यहां का एक बोरा नहीं तो भूल गए है वो बिना खाई टन बहुत शहर में लियोड़ो छोटो मोट शहर में हां हां बारे नहीं लियो नहीं हां अबे वो एक ले मुंडे में चाय की क्यों रे मिठा हां बन बड़ काटे कड़े हो हां तो अबे वो आप रखा एक रियो खाया जे तभी ने भाया नहीं जे तब हम्म। आपने खाया आराम हाँ। खाया खाया खाई गिरी क्या लागे भी नहीं तेल तेल लागे तो आपने पानी पी क्यों भाई अब आपने भूख तो मिट गई हूँ अरे दब आज रो दब आ रहेगो हाँ। एन अब आप थोड़ो कटे आराम हम्म। कर ला हाँ। एन पचे जाओ हाँ हाँ दमदारो कर लाटे एन पच आगे कोई देगा ठंडा बोर हाँ अरे तो अब आपने पानी पीन खेल रहे तो अब होतो तो कई करियो के वो विचार लगावे अरे वो तो तो विचार लगा उन टाइम में काय करियो बिने एक हां कंगर थी मतलब डोरी अच्छा। कमर बांध दे बा कंगर थी काय करियो बिने चाबी रे की बांध दे मतलब मेला चाबी ने बाहर एक हम्म बल से चाबी रे हां तो अब आपरे काय करियो क्यों हो आ तो आपा राणी साहब रिवर्स चाबी ले हटाने जी हां हां हूं बे कटे हेड उठ जाए बाणे ગવારાના ઉઠાય હોનારાના ઉઠાય કટા ભાઈ ચાવ્યા શૈલા આગી આ જવે ને હવે તો પાછા હાલા હવે બહુ બેઠો બેઠો વિચાર કરે अब विचार करते करते वो बैठो और बात जमीन कुछ वाह जमीन कुचरता कुचरता काय करियो के भी ने एक ऐसो एक भगवान मिलया हाँ। होना पर सुला दो होना पर सुरो खेड़ को लागो चाबी रो हाँ। के बाद चाबी होने रही हां पर्स ला दो भी ने ला दो हाँ। होने रे हे चाबी पर्स ला दो तो कई गिरियो के वो आप ले हाँ। क्यों वो तो हम हमजे कोनी हाँ। क्यों रंग बदले है की धूड़म भरी गई है हाँ। अब बिना कहने ने के ये पर्स है ना होना है तो या हां ठीक तो अब आप वो गियो पास अरे क्यों रे ओ हो शैतान ध्यान करी तो ये तो पाचा आ गया हाँ। क्या रे हटा यो कोई पाचा हाँ। रे नया क्या रे कू हटान जी आपरी चाबी बक्स रे आली जो को मारा हाथ रह हाँ। गई मैं जाने कट होना रे उठ जान कट चाबी गड़ा इन जी तो कोई हम लाल रुलतो के वाह वाह क्यों वाह वाह कोई बाहर निकाले जाए जो अरे तो वाह हटा ने चाबी देवी अरे वाह चाबी दे के क्यों वैन सो चाबी ही लोड़े रे अरे एन ये होने रे गए नहीं अरे मतलब परसों खैर को लागो होने रे तो कई क्रियो है के क्यों सटा यूं आप कट बैठा अरे के बैठो काई करियो के मैं अटू गियो हां मैं अटू गियो जना तो आगे आयो एक नाडो नाडो उठ मैं पानी पियो पानी पियो पानी पियो मैं क्यों भैया व्यापार पर पारा हां दंदर गलाट ठंडा पोर आ गया हाल है वाह उन टाइम में काई करियो एक रात एक एक बोल्टी मार देंगे आई हां बोराने हां तो मैं बोर खया नहीं हां जेते मारे भूख मिट गई जरा मैं મેં पानी आनी पी પીવું રોન આડો तो जड़े ने मना चाबी आली આલી યાદ अरे मैं के ओ हो आ तो જલમ कर दिया हां चाबी भूल गया हां आ तो बे रे रेवड़ा ना धोगन खराब है का चाबी अपने कने रहेगी तो बात चाबी मैं ले उरोन पाछो आ गयो जना वा लड़की बूझियो अरे कहते आप इन चाबियों कोई जमीन अमीन कुचरी गई हां कि कुचरी गया आंगन क्या हां आंगन बैठ बैठ में कुचरी हो तो अरे यानी कि कोई बात नहीं अबे घोड़ा जाते हैं अरे क्यों काले पे मैं थान नाडी ते पुगू ना हाल हां हाथ में हाल हां क्यों कोई बात नहीं अरे अब आप रे गया हां दार बात रेड हुआ हां क्या अब आप रे ज्ञान जना काय करियो है के वे जाता जाता जाता अरे गया नाडे माते हां पानी आनी पियो हां आराम दूजो करियो क्यों था काले की बोल दी बोर खाया हां क्या मैं ये बोल दी बोर खाया हां क्यों वा बोर खा लियो के अब वा बैठ बैठे अब काले जमीन कांकड़ में कल आंगनों छानी रहे खोदड़ी तो अबे बाप वो तो बोरा में ध्यान आके बाप रे काई की रेड़ी के पाती ले के लोड़े रे अब ले जान वो काले खाटो खोदियो तो ठीक खोदियो खोदियो खोदियो लागू खेड़ कोन के बात हो न पर सोएगी कि बहन इधर है तो अबे वो आप रे काई करियो खोदियो खोदियो खोदियो बिना बारे काट होना पर सुनने एक ऐसे मतलब पाव भरी डली एंड बिना काट उरो ना आप जा नाडी तलाव माते पानी हाथ बढ़िया धो भी ने अरे ओने रे पल्लेवान हां एन पांच बार आवन एन भी ने कियो के अब आवरा के वाह अलग रे हां देशोर कोई जानो कोई पा हां कोई आ जानो कोई काल काल हां अब घर अपन अपन घर आ के मोज का लाल बाटे टी ठोगा बे वाह अब आयो आयो बाजू क्यों आप आती है फलाना फलाना नार उड़ जानते हैं चाबीरा जितना पैसा देवे ने लियो वाह तो अब आप वो जान पर सोनारदन क्यों ले भाई आप पाती है नहीं ना मन पया दे अरे अबे वो पाती ले जान दीवी हां वो तोल वोल कर क्यों भाई मां पया तो काफी है वे हां हाँ। क्यों भाई ना 50000 है वे थारे हां जगह मोले 10000 ले जान बाकी रे तो पर ले जी हां 40000 पर ले जी हां हां वारसा आगो पाच हां बड़ो आदमी लाई हां अरे क्यों रे यो भाई हाँ। के दस तो मैंने ध्यान आधा उधार है हाँ साढ़े हजार उधार है क्या बाकी हाँ साढ़े हजार कहते हो हाँ કે કોઈ વાત નઈ હવે यूं करो के ए 100 રૂપિયા હે અરે આ ભી यूं करो के सेब મે એક ઠગડી લે લો હા એક લોડો હરુ કરો અરે હા 2 રૂપિયા કિલો કિલે જીઉ ભાવ મે આવે નઈ હા 2 રૂપિયા કિલો 3 રૂપિયા કિલો જીઉ 4 રૂપિયા કિલો કટે સસ્તો ભાવ દેખો તો ટ્રેન મુંગો મુંગો લે લો હા અરે બો લે લો કે હા લાલાના પણ અટે તગનો ભરો હા હવે આપરે પરસો खेड़ को ठोके के होनो अरे अबे वो आपरे जो लोड़ो लावे पेड़ सो खेड़ को ठोके तो होनो अन्य तो आपरे वो लोड़ो लावे अन्य आपरे कई करे नोटें के मकान हरू बना दिया है बिनावना अरे क्यों बुझो तुम बात आबे अबे बिनावता बिनावता कई करियो के न्यू सही जो आपरे बिन रे घर वने बिनो बत हो मतलब भर है को दोनों है को दोनों है को तो एक के वो लड़को भी बेटी रो भाई अरे क्यों भाई अब हल्ला आपा हाँ। छोरे ने लिया नाच कर सब मिना है या मैं लिया ने हाँ। आप हल्ला हाँ। तो अभी वो आयो बिन गांव में आयो तो देखे हम्म। अटे अट बुझे के महास तो तो वो बड़वान नहीं होने होने एम तो थोड़ी हम्म। अटे अट बुझे गांव वाले कैसा फलाना फलाना एक माना गांव पनाड़ा माने बहन है अटे है क्यों घर है हम्म। क्या वो महल वाला घर बताए क्या वो वो आया आप रे बहन वाला घर तो अरे बहन सारो घर था अरे वो तो हाँ भूखियो कट पड़ी है ताल में अरे क्यों भाई ताल में पड़ी जानबूझ तो वो बांध मुंह डाल गान नहीं करियो लड़के दे के दौड़ा माथा हाथ फेराइयो क्या आओ भाई खनु आया अरे क्या भाई मैं यहाँ आई के तुम ले क्यों देख ले अरे क्या नो घर के क्यों वाह वाकई में घर हो के बाबा तो अभी भी लड़के लड़को जान कियो माँ बाप ने કે આપ બેઠો આપણો સવાયો હા ધનમાલ કરી લીયો હા તો કે ધનમાલ કરી હા આગે કે થારી માં જાણું થાય જણા આપણા તો ધન લે લે જન મત આબદન કરીયો હા લડકી આપણા આટુ ધન લે જા કાર થને હા એના આપરો ધન કરી લીયો તો અરે આપરો ઘર બના લીયો હા હવે બોદરા શેટ કાઈ કર્યો દોડી દોડી કે રાજાને અરે કે રાજા આલા કેને રે કેવા આજે મેરી બેટીએ તો મારો ધન લે જા અને આપરો ઘર બનાયો કે ઠે बोला था लड़की को हम्म। नहीं था पावना को बोला अटेट हम्म। पर मेला था और अब फलाना फलाना को बुला लेना अरे गया क्यों आज आपने बुला बैठे क्या हम्म। कौन भाई क्या राजा साहब अब बहुत तो बड़ो है हाँ। हम को नहीं अरे तो यू करता करता बात लड़की बोल लियो अरे ये भाई अटिया कई बात है अरे क्या था बुला बैठे हाँ क्यों बिन हेलो पाड़ियो करे थे हाँ। क्या था अटिया हो गया आने सूख जाओ लग हाँ जान कह दीजो के भाई वो धन कठू लाइयो हाँ तो तू कह दीजिए कैसा मने ठा नहीं अरे इनी बेटी जाने इनी बाप जाने अरे मने बाप बड़ा ठा नहीं है हाँ हाँ मैं भोलो आदमी हो गया हाँ मैं तो भोलो सिंह आदमी हाँ मने काटा काटा काटा धन लावे काटा नहीं लावे हाँ अरे अब गियो राजा साहब हाँ जान थड़ा गियो कि भाई बोल थार और धन धुन लेगो हाँ के बाप जी मने ठा नहीं अरे इनी बेटी जाने अरे इनी बाल जाने मन ठाने मन ध्यान नहीं रहो तो राजा क्यों मैं तो जलम कर दिया ओ तो ओ तो बारे नहीं रहो श्याम हां जिंदा रहा हां जन के बुलाओ मेरी लड़की ने अरे तो अब काय की आपने मेरी लड़की ने बुलाए हां हां क्यों लड़की तुम राजा साहब बुला अरे आई लड़की बा काय की होना परसो आपने मिंडे में ले रो अरे माइन पोर ओन ओन ठाने पड़े आई हां आई किस हां अब आई क्यों बोल भाई तार बाप धन हां क्यों मैं लेगी अरे क्यों भाई मैं क्यों लेगी हूँ हाँ मार किस्मत लेगी मैं तो हाँ धंधोड़ी लेगी अरे क्या राधा रेस है हाँ थोड़ी हाँ राधा रेस है उन टाइम में कहीं गिरी कि थार किस्मत लेगी हाँ के लाओ मार खंडो है थार हम्म। किस्मत मार फिर केड़ा है थार किस्मत हाँ। बाप रे देखा तेज है किस्मत हाँ, हाँ। के बाप ले और मीडी वाड़े और ठोकियो फेर दो तो बहुत होना पर है क्यों थारी मार और राजा साहब शत्रु एक क्या हाँ। बने बहुत है करे मैं हमारा किस्मत लेगी होंगे हम्म। राजा की वार आवा दिन है गए हम्म। बहुत बढ़िया है हाँ ये किस्मत बहुत किस्मत लेगी बिना तो शहर ने थोक में लियो हाँ इन आप फाज में ली क्यों भाई थारा धन नहीं लेगी हम्म। इन किस्मत लेगी अरे जो को बात है ऐसा हाँ, हाँ बात पूरी है बस बस हाँ, एक नगरी रे मैंने एक राजा એરે એક રાણી રહેવતા મહેશા राजा रो नाम नर सुल्तान और रानी रो नाम न्याल दे ठीक है साहब तो साधन संपन्न राजा हो हम्म। धन मान हाथी घोड़ा नौकर चाकर कड़ी कुमी को ठीक है तो सामरा मेष राजा रानी आप बेटा मेरे महीने कर्मी की बात करता ठीक है क्या अपन प्रजा साथ केड़ो रहणो प्रजा रे महीने उन आदमी केड़ो किनो केड़ी राखनी सब बात हो राजा और रानी घर में ले चौको करता करता करता करता न सुल्तान ने हाँ। मन में मैंने एक बात आई हाँ मैं में सोतो सोतो विचार करियो करियो के जीवड़ा ये दुनिया रे मैंने आज पहले पहली चेता ही प्रति तब्या ने बचे जलिया दुख सब गया सब गया ए जानो अपन नहीं है ठीक है अपन राज कंवर हा जकारा राजा बन गया हाँ ठीक है आज अपना राजा हाँ अपन लारे हक दूजो राजा बन जाए बन जाई तो अपन ये बात हो विचार है मने मन में कि दुनिया रे मैंने का छड़ा आवता हाँ, ही रेवे आवागमन चलतो रेवे ठीक है तो राजा रे मन में विचार है जो कि अपन कटी कटी जाए कोई जगह एड़ी अब की जगह नौकरी करा ठीक है जब कहूँ आप मन में पूरी आ बात रो विचार कर राजा आप मंदिर में ने बीन गाड़ दे दी क्या बात रानी ने तो नहीं बतानी आपने जा ए नौकरी करनी एक राजा कहो है प्रजा कहड़ी हुए प्रजा केड़ी वे एनो आपा केड़ो व्यवहार करा प्रजा रे साथे ए आपा नौकरी करा ने मारे साथे આગલો કેળો વ્યવહાર કરે જેનું મને ઈ વાત રો તોલ વેવે કે રાજા और प्रजा रे बीच में कितो अंतर है। वो विचार कर तो सुबह ब्रह्ममुहूर्त रे महीने उठ राजा ए आप लोग ध्यान धूप कर स्नान सपाड़ा कर ए रानी रे कने आ ए महल में बैठो है आप એકાંતરમાં જટે રાજા રાણી રોજીના વાતા કરતા ઉસ જગહ બેઠા બેઠા ખિલકોયા કરતા કરતા રાણી હસતી અને મુળકતી और राजा मुड़ुक तो मुड़ुक तो क्यों कि रानी न्याय दे के नर सुनता आज एक में मारा मंदरी बात हुई परमो के मारा मंडे महीने एक विचार है वो जड़ते पूरो नहीं भेबे जड़ते में है जीवन अधूरो केड़ी बात करी हो रानी न्याल दे जेड़ी में रानी हूँ आप राग तेज आप रो चारों में डंको चले हाथी घोड़ा कोई बात री कुमी कोनी हाल हो रही आप रे इंदर माई के में प्यासी आप रे कई कोनी कई मन में है आप क्या हाथी घोड़ा मेल मारिया राज तेज मारे मन पति दे मैं मारा मन में कोई चीज विचारी વિચારી બા મેં પૂરી કરું તોય મારે મનને મહિને આત્માને મહિને મેં इन बात रो सुख और मौज की બીજને રાણી આ बात મારા મનને મહિને करके एर मैं तने आ बताऊं आ बात कि मारा मंडी में करूं जदी मारो जीव खुश हो रानी ने आज बहुत समझदारी और बा राजारी हर परिस्थिति ने समझती कि आखिर राजा राजा वह है राजा ने राजनीति की शोक वे राज्य राजनीति कालो आदमी जितते मंडी बात पूरी नहीं हुए जितते आपको पूरा संसार अधूरू तो रानी राजा ने आप मनु इजाजत दे दी एर कह दियो खेर न सुल्तान जो आपका मन में आवे जो आप करो एर आपका मन आवे इतने आप पधारो एक बात रो मारे व्रत है जो आप मने वचन दे जाओ कि मारे आगे आने वाला महीना रे महीने बड़ी तीज रे दी आप शाम रा सिंगारा रा हाजिर हो जाओ जे आप हाजिर नहीं हुआ तो मैं चिता छुड़ाई और ये नवल बाग रे महीने मारो शरीर है जो कर्ण में स्वाहा करो तो राजा मुनि ने विचार कर और वचन दियो है कि रानी मैं जटे कटे ई वर्तखंड में रहूँगा या वारे रहूँगा जिन दिन में था सिंजा रहने आ बात रो विचार कर और राजा रानी ने वचन दे और आश्वासन दियो पूरो के राज ते अपना पूरो सब धन दौलत खजाना साफ तो और होशियारी राखो तो। मैं आज तो अपना देश प्रदेश में घूम मारा मंडी मौज मनाज इन तो हूँ जिते ई राज जी जवाबदारी ए जितो कितो ही कारोबार जीरो हिसाब किताब आप रहा कारण राजा मन में समझता हूँ क्या पाने कोई पुत्र और पुत्री नहीं है वो राजा आप तो खुद ही राज संभालो ले उनो राज चलाऊनो काम खुद कर दो औलाद बिना खातर राजा रा मन में सुतोड़ा रे हजारों बात आती वे बात और मन रात माने पूरी करने वास्ते राजा हर बात रो हर प्रयत्न करता आकर राजा वीर वेगो है और आप रो घोड़ो ले लियो है फिर कुछ अंदर मजला जाता जाता राजा रा मन में विचार आयो आपा नौकरी करने वास्ते निकलिया આપણો ખાસ મેન એક ही मकसद है कि कोई रे उठे अपन नौकरी करी तो आज आपा राजा हाँ ए राजा जेड़ा वेशभूषा में आपा निकलिया तो लोग अपन कोई नौकरी नहीं ना अपने राजनीति रीठा पड़े ना दुनिया री पड़े ना राजा तो राजा कई करियो के जंगल के में जा और आप लोग घोड़ो हो ने हरियाली हरी गोबड़ी ही तटे नदी रे किनारे ली जा क्यों रे भाई घोड़ा तू मारो अब की और अब की में साथ दिन है तू आ हरियरी धोबड़ी दे मौज मना यूँ कर एनु घोड़ा रे माथे हाथ फेर ઘોડાને છોડ એ રાજાને માંડ્યો ઘોડો રાજાને સામે દેખતો રહ્યો રાજા રવાના આવે ગયો રાજા મનમે વિચાર કર્યો કે એ કપડા ઓર એ આપણી શરીરમાં થશે નહીં અહીં આપણને ભંગ કરી દેવી છે તો રાજા એક નદીને કિનારે જાય और आप सिरोपा वो भी एक नदी के नहीं है नदी के किनारे जाए जल में हुआ और आपका कपड़ा हा जका ने हाड़ तोड़ ए ये हदा आदमी रजड़ा बना अबे जाता जाता राजा एक ढोल नगरी ही ढोल नगरी रे मैंने राजा जा और दिलि ॿधी वञणु पुटु आराम एक लाॾी जी पाड़ ही तकाने लाडले पाड़ जाय तेरी छतरी ही वो छतरी रे कने राजा बेट के जीवड़ा ई नगरी रे महीने कुणा पण है तो है कुणा पण जाने कुणा पण पीछा कुणा पण आव करे आव पण आदर करे केवे भाई तू अटे रात रे તો આ मन में विचार कर राजा મનમાં आप કર રાજા तो આપણી हो वो खेल हो विचार है उठी आज है रात शमशान भूमि के महीने ने पवित्र हमद के दुनिया रे महीने आखिर मिया बाद रे आई आखिर आई स्वर्ग और आई नरग और लोक और परलोक ये हमद रात उठ अगली रात आपकी गुजरात दिन उगो राजा नाडी रे महीने जाट रातन कुला कर जन बन्ने महीने जाय पाछो आय એમ નાડીની બારડ માથે પીણગટ પીણિયા પાણી ભરને હતી ને જાણ મળે આમ જમણવાળી હગલી મને વિચાર કર્યો ઓ પરદેશી દિનુગો હણી હું અંધારે આટે કીકડ બેઠો આ વાત તે વિચાર કર એને જાતે હું જાટલી લુકાઈ બા પૂછ્યો ઘટારો ઘરે ભાઈ મોટા હતો હું કિયો ડોકી તો વાત પછી હું કરનું આવ્યો કટે જાય ભાઈ આટે આવ્યો હું ઓ કયો ગામ કે ધવલ નગરી હે जाके राजा राज करे जीरो कई नाम है जाके राजा राज करे जीरो नाम राजा ढोल है राजा ढोली नगरी है माँ राजा ढोली नगरी देवी छत्तीस को अटेरे एक प्रकार ही बाजार में बातचीत कर पानी बनी राजा मन में विचार करियो कि राजा ढोल कोई अच्छो आदमी है अपना ढोली नगरी में ये राजा के द्वारे जाए જાણ आप આપા કહેવા मैंने नौकरी કરવી और मन में विचार कर नर सुल्तान राजा ढोल रहे राज में क्यों करो तो पोल बढ़ता ही तके पोल आई है पोल ले बारे दो पोरा दारूबा जो हाथ में भाला मिला और तैनात खड़ा है क्या राप राजा राजा पड़ो नीराग और एक हादा आदमी रे मापी आप शीर्ष झुकान और पोरादारा ने राम कर पोरादार अच्छा साधन संपन्न और अच्छा गुमान राजा रहा तो उन्हें आयोड़ा ने इज्जत और आदत उम्र भी रामास्वामी घर એને પૂછ્યું કે ભાઈ કયો ગામ કટું આવ્યો કઈ કામ હે તારે मैं सुल्तान किए कि मैं बहुत दूर आयो हूँ ए मारो नाम नर सुल्तान है जात रो मैं राजपूत हूँ नौकरी के वास्ते आयो हूँ राजा टोलू मार गए ना और अगर क्यों भाई राजा टोलू मिलनो है तो थारो परमाणु में भेजनो पड़ी ए राजा ढोल मैंने जाना रो हुक्म दे तो मैं तुम्हें मेल देवा ये तो ने बैठ तो नर सुल्तान अरे उगो रियो है और राज दरबार रो पर मैं जाए तो फरियाद फरियाद दो हमारे तो राजा दिनों का पोर हो आप मेलू बारे डोडी रे मैंने मुडा रे मात्र बैठा तो राजा ढोल पूछ्यो कई काम आयो रे अलकारा के हुक्म बारे एक कोई परदेशी जात रो राजपूत आपने याद कर तो राजा ढोल क्यों दो फोरा एक नंगी तलवारा साते लेख अनुनाद मिलया मैला तलवार हुक्म हो राजा ढोल अज्ञा दीवी और दो हाथ रुकाला नर संतान वीर वीर मैदा आया मैं आया तो नर सुल्तान हाथ ढोल नतमस्तक हुए राजा ने पगा पड़ी राजा इज्जत दी है और उन्हें भाई क्या गाँव आयो कटर है कहीं नाव है तारो कहीं जात है कहीं काम आयो बोलो डैम को कि मारो नाम नर सुल्तान है जात रो मैं राजपूत हूँ था नौकरी करना रहा हिसाब हूँ जरूर वही तू कई नौकरी करनी जाने कई काम करनी जाने लो तू होशियार कारीगर है कई बात तू जाने जो धन में नौकरी जो आप दरबार में मैंने अब कहूँ अब को हब कहूँ हब को जेड़ो आप हुक्म करो भाई मैं नौकरी बोल में काम कर तो राजा ढोल मेणा और बिलाऊ आगे चार बार हजड़ो એ આપરા રાજરો સોતાઈ હિસ્સો મેણાન ભીમ જોરા મરદીનું ધામ એનું કે આપણે હુકુમત કરન કરી તો રાજા મનને વિચાર કર્યો જાતરો છત્રી દિખંડ મહિને અનુત્રો લંબો તગડો દિલ ડોલો રાજા ઢોલો ભૂટરો એ હિંમતી દેખ પૂરી આંખ્યા મોટી મોટી કાંસીરા પ્યાલા જેવી દેખ મનમે વિચાર કરન કયો ઓ મિનક આપણે કામરો બિના બુલાયો પંછી हम ही आयो आ मन में विचार कर क्यों थारे वास्ते नौकरी की जगह है नहीं एक थारे मारे शर्त है कि तू मारी सेना रे में ही भर्ती हो जा और तने छोकी जगह को काम तने सौंपू तो काम एर बोरो धंधो थे तो राजा એ વાતો उन्हें परवान सुनाई तो मन विचार कर किए राजा बोला सुल्तान हो आप रो परिचय दूजो दियो को नहीं कहने कियो राजा ढोल ने हाथ जोड़ कि मैं आपने राज रे मैंने जो आप काम बोला हो तो अब कहो अब को जेलन रहो वो જ મારો મકસદ હે કે મેં आपको પોટ દઉં ત્યારે આપની रक्षा કરું કેડી એમ की आजाई तो मैं उन्हें दूर तो राजा ढोल किया है कि जा थने गुजगुजरा ला जो तू ले ही मैं थने दे इन थारो काम दे इन थारे आगे में तरक्की बता आकर न सुल्तान है ना मैं सुल्तान एक दिन दो दिन तीन दिन निकलिया और राजा दो हुक्म हो मारे आते मैं लो और दिन तो जो जो हुक्म था मारे एक बात तो पण है कि मैं कितने भी पूरो दिन तो मारे मुंडा के नारी जात नहीं आनी चाहिए जे नारी जात आ जावे मारा पूरा रे मैंने और मारे सामने गुजर गई तुम्हारा पूरा रमेन मैं मात्र उतारता हूँ ये बात रही क्या आप मैंने फरियाद दो माफी तो ही मैं आप पे नौकरी करूंगी मैं आप मेल नहीं होगी तो राजा ढोल कियो सोई गुना थने माफ है मारा मेल तू पोरो देवे और थारा पोरा में थारे मुंडा के कोई नारी जात आन खड़ी हो जावे तो तुम माफ उतार सके तो तेरे सोई गुना माफ वो वचन दे और राजा अपना महल में गयो पड़ो है और रानी सलाह मशूरो कर लागो कि एक बड़ो आदमी दीप तोड़ो और राजपूत वाकई अड़ो दिशे कि वो अपना राज रो किन की आगे मान बढ़ो जरूर लागो आज अपना आगे है तो रानी ने विचार करियो कि कौन कहो दात राजपूत कहीं हाँ, कोई छड़ है कोई कपट है कहीं केरादर कोई गोपी फ्री है क्यों क्या आगे अपन चार बार मेड़ों और बिलों हजो रहा छोटा ही राज घुमाए रहा रानी नहीं बात रो मन में चौबीस घंटा शंकुर है कि वही कोई दुश्मन पूर्ण प्रकार हो रे राजा की मौत नहीं ले ले वे कोई मारे आज मैं लोग पूरा ही धोनी है मारे इन प्रकार लोग वादो कही हुए और हरि राम में वो विचार आए रानी आज जाना रात रात सोते सोते सोते कहीं के कर सोते कभी के सोते एम करता करता काष्ट दिन एक दिन नारायण जीरो कर में बैठी बैठी न सोता न सामने सामने देखता देखता देखता देखता रानी राम मंदिर में मैंने पाप अपर रानी राम मंदिर में पाप अपर कि तो खूबसूरत એવી સુરત और લીલારી परछाई दे रानी के माथा मन में मत मोहित हुई तो वाह आई मौको देखती कि राजा आटे नहीं वे रोकोरो देवे उनते अमी रोकोरो खंडित करूं और ये साथ दो हाथ करूं और विचार करता करता एक दिन एड़ो आयो कि राजा ढोल कोई मारे शिकार खेलने शिकार खेलने गयो वो मैं रोकोरो देता हो और रानी मैंने जीरो कार्य में मेल में बेटी ही और अब आपना सोलह श्वेता सद बाल बाल में मोती को अब वीर वे न सुल्तान ने कने की जाता ही न सुल्तान एकदम तलवार में मुकार એનું માથે એકદમ વાલી તો બા આખી દૂરો ડું પાણી ખાયડો ઉરા પેટ રે મહિને રગ રગ રે મહિને નાડ નાડ રે મહિને પૂરું પાણી નાખો મેળવો તો હું માતા માથે નીકળશે હું એકદમ તલવાર કાઢ ખબરદાર એક પોંગ આવે સર માતો અલગ કરો રાણી મેં વિચાર કર્યો ખેલ બિગડ मन में सोचे पार पड़ी ऊंधी हिजन दूनी मिली राजा आया माँ तो मारो नहीं उतरियो वो उतार दे ये बात ने सोच रानी आपका पूरा नमी कर सकता હાથી ગીરી પગારે તારું પાણી પગાર થઈ એડિયમ નીકળ્યું જાતા જાતા મેલ આવી રાણી મૂર્છાગત ખાય હેઠી પડી દાસી આવી બેઠી કરે હોશી નહીં આવે વળે બેઠી કરે અંડા તા આપણે ભેગો કઈ જવાબ નહીં આવે રાણી દોરી હોરી કડી કાઢી વે આપણો ચેતો બોલ્યો ચેતો પૂરો કર મને મેં વિચાર કર્યો કે રાજા શિકાર ખેર પાછો નહીં આવે ધીરે પહેલી પહેલી है और बुद्धि फिर गई इन बात रो रानी ने मन में रानी मन में विचार करियो कि इन्हें मना लो तो हगलो ही दुख और संकट मारो ही मिट जावे इरे माता बात दूर એ બાપરો कर ए रानी રાણી સોનારો થાળ મુંડાય और मैंने कुंकुड़ो चौपड़ो में ए गंवारा आका हरिया में गोली गली में पानी रो लोटो भर मैं मैं ए रबे मैं थाल ले एन आप ही आत्मा इधर कम साफ कर हाथी जा वो न सुनता पूरे वो बात रोई पर किनारी जात मुंडा के आया माँ को उतार ले ये बात रो इन पक्को हो હાથસાણી રાણી મુંડા કે ટૂંકી છોકરી જે કુક જાવે તો મમ્મા તો ઉતાર લેતો પૂરી નીત બેન ભાઈ ભણવના હિસાબમાં મેલનું બીજું આટીનો રાજા શિકાર કરે અને મેલો છટકો આટીને તો રાજા પગતે પગતે છડે આટીને રાણી થાલ લઈને હાથે આવે અને રાજા અને રાણી દોનારે બીચે નર સુલતાન ખડો તો राजा ढोल धन्य ராஜாக்கள் முன்னே ಸಾಕು ಆಗ ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಬಾರಿಕಿ ಪೈ ಆ ತೇಕಲ್ಲ ಥಾರೆ ರಾಣಿ ಶರ್ಮಿಂದಿ ಹೋಗಿ ಆ ಥಾರೆ ಇಟ್ಟು ಪಡು राजा दौड़ रहे हो कि रानी राजा खड़ा बहन पूछो कहीं भी कहीं बात है कहीं विचार नहीं हो आपने कहीं चक्कर आई क्यों मुड़ता जाता जो मैं धर्म लोग तो भाई बनने वास्ते थार देर में शब्द जराई आप शामी देखा मार पंखा नहीं मैंने જમીન છું જિંદગી એકદમ મારા મનના વિચાર આવે બદલતા કે રાજા કઈ દે જવાબ એમનો સુલતાન એડો કોરાલો પક્કો શાયદ મારો માથ પર નહીં ઉતાર લે यूं मारो माथ तो ठिड़क्यो और मारा पग हटे जमीन से तो राजा रानी ने बहुत अच्छी समझ और आपरा मन में पूरो हरक कर ए रानी ने बेटी कर थाले में पाछो पदे का वे कुंकु ने जमा ए नर सुल्तान ने करने राजा और रानी दोनों आए ए क्यों आपरी इच्छा आप पूरी કરો એમ ભાઈ બનાય રાખી તો વાહ આપણી ટેમ મોડી લે और राखी मान दी और धर्म को भाई बना दिया क्यों ना सुल्तान आप हमारे धर्मरा भाई हो और आप हमारा मैं अपना कोरा तो पक्का कोरा ही ठोक तो। और आपकी मेहनत का पैसा लो इन वास्ते हमारे धर्मरा भाइयों मन में हूँ नीच रो विचार नहीं लानो कि मैं एक को रही आ राजा रानी मारे भाई बहन दो वो कीकर पार जाए भाई भाई वे